हाँ नफ्स से अगर बहुत नफ्स है भी इंसान को नफ्स से बदगुमान लेना चाहिए अगर थानवी नवर अल्लाह उमर कदो कितने बड़े आदमी थे कितने बड़े बुजुर्ग थे कितने बड़े अलिया अल्लाह में से थे लेकिन एक बार आपने हजरे में ख़ास हजरे में तशरीफ़ फरमा थे कुछ किताब लिख रहे थे हाँ, अंदर ऊपर तो हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब ने एक लड़के को जो खूबसूरत भी था और अभी दाढ़ी नहीं जमी थी तो उसको भेज दिया ऊपर हज़रत तनाई में थे देखा कि लड़का खूबसूरत है तो हज़रत बूढ़े थे जल्दी उठ नहीं पाए लेकिन फिर भी जल्दी से उठ करके कमरे बाहर खड़े हुए और बुलाया माशबीर साहब को क्यों इसको खूबसूरत लड़के को हमारे पास तनहाई कमरे भेज दिया बूढ़े हो गए हैं अपने वक्त के से आज़म हैं अपने वक्त के कतबुलताब हैं लेकिन उसके बावजूद अपने नफ्स से बदगुमान है अपने नफ्स से हम लोग दो रकात पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि भाई हम हमको अब जबरील हो गए हम तो अब नफ्स हमारा ख़त्म हो गया मर गया जो नफ्स हाँ, इतना बड़ा वक्त का वलील्ला अपने नफ्स मुतमिन नहीं हम लोग नफ्स अपने मुतमिन हो जाते हैं हम्म, सोचोगा कितना बड़ा अपने वक्त का कुतुब हाँ, और एक खूबसूरत लड़का कमरे में आ गया तो कमरे बाहर खड़े हो गए जाकर के उड़ नहीं पा रहे हैं आता है कि उड़ नहीं पाते तो बहुत जल्दी सार लगाए जल्दी किसी तरह से बूढ़े हो गए थे हाँ एक तो बुढ़ापा कोई तो बुढ़ापे में नफ्स कहाँ वो होता है एक तो बुढ़ापा और दूसरे इतना बड़ा वली फिर भी अपने पर वो नहीं है कि वो करें कि भाई हम बहुत बड़े हैं इसीलिए फरमाया कुरान मजीद में भी है फला तो सकू सकू अपने नफ्सों को ज़्यादा पाक मत समझो यानी कि इस वक्त में तुमको गुनाह मेरा ताड़ दें